5C Vocabulary अरे बंद खरीदारी घूमना सामान कमीज चाहिए मिलना कपड़ा भीड़ खरीदना साथ साथ चलना लोग रंग पसंद नीला लेना लगना देर मेहमान